पुराण में महादेव जी को जिन आठ मूर्तियों से युक्त बताया जाता है उनमें से उनकी जलमय मूर्ति यह ज्ञान वापी ही है जो ज्ञान प्रदान करने वाली है ज्ञान वापी का दर्शन करके कलावती के शरीर में रोमांच हो आया शरीर कुछ कंपित होने लगा और माथे में पसीना आ गया उसके दोनों नेत्र आनंद के आंसुओं से भर आए देह जड़वत हो गई मुंह का रंग फीका हो गया और वह चित्रपट उसके हाथ से छूट कर गिर पड़ा वह क्षण भर के लिए अपने आप को भूल गई तदंतर कलावती की दासियां इधर-उधर से दौड़ती हुई आई और आपस में पूछने लगी क्या हुआ क्या हुआ क्या हो गया है फिर वे शांतिदायक उपचारों से धैर्य पूर्वक उसकी सेवा में जुट गई उसे उस अवस्था में देखकर बुद्धि शरीरी नाम वाली एक सखी बोली मैं इसके संताप को शांत करने के लिए एक उत्तम औषधि जानती हूँ यह इस चित्रपटी को देखकर तत्काल विकलता को प्राप्त हुई है अतः फिर उसी का स्पर्श करने से संताप रहित होगी बुद्धि शरिणी के कहने से दासियों ने कलावती के आगे उस चित्रपट को रखकर कहा रानी जी इस चित्रपट को देखिए जिसमें आपको आनंद देने वाली कोई इष्ट देव विराज रहे हैं चित्रपट का स्पर्श प्राप्त होते ही कलावती मूर्छा त्याग कर सहसा उठ बैठी फिर उसने ज्ञान दायिनी ज्ञान वापी को देखा चित्रपट में अंकित उस ज्ञान वापी का स्पर्श करके ही उसने जन्म अंतर का वैसा ही ज्ञान प्राप्त कर लिया जैसा कि पूर्व जन्म में था उस उसने तब उसने प्रसन्न होकर अपनी दासियों से पूर्व जन्म का वृतांत कह सुनाया कलावती बोली पूर्व जन्म में ब्राह्मणी की कन्या थी और काशी में विश्वनाथ मंदिर के समीप ज्ञान बापी के तट पर प्रसन्नता पूर्वक खेला करती थी मेरे पिता का नाम हरि स्वामी माता का नाम प्रियवंदा और मेरा नाम सुशीला था इस समय ज्ञान बापी को देखने से क्षण भर में मुझे यह पूर्व जन्म का ज्ञान हो आया है कलावती की यह बात सुनकर बुद्धिशीलनी तथा वे सब दासियां हर्ष में भर गई तथा अहो जिस तीर्थ का ऐसा प्रभाव है उसका दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो सकता है कलावती रानी आपको नमस्कार है आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें राजा से प्रार्थना करके हमको भी वहां ले चले जो चित्रपट में प्राप्त होने पर भी आपको ज्ञान देने वाली हुई है वह अवश्य ही नाम से ज्ञानवापी कहलाने योग्य है कलावती ने उन सब की प्रार्थना स्वीकार करके महाराज से कहा प्राणनाथ आप जैसे पति को पाकर मेरे सब मनोरथ पूर्ण हो गए आर्य पुत्र अब एक ही मनोरथ शेष है जिसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ राजा ने कहा प्रिय मैं ऐसी कोई वस्तु नहीं देखता जो तुम्हारे लिए देने योग्य ना हो अतः शीघ्र कहो तुम किससे मांगती हो किस वस्तु को मांगती हो और कौन मांगने वाला है हम दोनों का आपस का बर्ताव हो दो दिन भिन्न भिन्न व्यक्तियों की भांति नहीं है राज्य कोष सेना और दुर्ग तथा अन्य भी जितनी वस्तुएं हैं वे सब तुम्हारी है मेरा कुछ भी नहीं है मैं नाम मात्र के लिए ही इनका स्वामी हूँ कलावती बोली नाथ मुझे शीघ्र काशीपुरी में पहुंचाइए राजा माल्यकेतु ने कहा प्रिय यदि तुमने काशी जाने का ही निश्चय कर लिया तो अब मुझे भी यहाँ रहने की क्या आवश्यकता है अतः हम तुम दोनों को काशी चलना चाहिए इस प्रकार अपनी प्यारी पत्नी कलावती को आश्वासन देकर राजा मालिक केतु ने पूर्ववासियों को बुलाकर सत्कार किया और पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर कुछ रत्न धन साथ ले काशीपुरी को प्रस्थान किया विश्वनाथ जी की नगरी का दर्शन करके राजा ने अपने को कृतार्थ माना और संसार सागर से पार गया तथा समझा पहले जन्म की वासना से रानी कनावती ने उस पुरी को समस्त गलियों और मार्गों को स्वयं पहचान लिया उन्होंने मरणिक कर्णिका में स्नान करके भूत धन दान दिया और विश्वनाथ जी की पूजा करके परिक्रमा करने के पश्चात मुक्ति मंडप में प्रवेश किया वहां धर्म कथा सुनकर धन दान किया फिर राजा ने सायकाल की महापूजा की और रात में जागरण किया तदंतर प्रातः काल उठकर शोच और स्नान से निवृत्त हो रानी के बताए हुए मार्ग से वे ज्ञान वापी पर गए वहां हर्ष में भरे हुए राजा ने कलावती के साथ स्नान किया और श्रद्धा पूर्वक पिंडदान देकर पितृ को तृप्त किया वहां सुपात्र ब्राह्मण को सुवर्ण और रजत दान किए फिर दीनों अंधों दरिद्रों और अनाथों को धन से संतुष्ट करके नरेश ने पारना की तथा रत्नमयी सीढ़ियां लगवाकर ज्ञान वापी का संस्कार कराया रानी कलावती ने अपने पति के साथ ज्ञान वाक्य तीर्थ के प्रति भक्ति भाव बढ़ाया और आयु के शेष दिन तपस्या पूर्वक व्यक्तित किया एक दिन प्रातः काल वे दोनों दंपत्ति ज्ञान वापी में स्नान करके बैठे हुए थे इसी समय किसी जटाधारी व्यक्ति ने आकर उनके हाथ में विभूति दी और इस प्रकार कहा उठो आज ही क्षण में हम तुम दोनों को यहाँ तारक मंत्र का उपदेश प्राप्त कराएंगे प्राप्त होगा उस जटाधारी तपस्वी के इतना कहते ही आकाश से एक तेजस्वी विमान उतरा और सब लोग के देखते-देखते भगवान शिव उस विमान से निकले और उतरकर उन्होंने उन दोनों पति पत्नी के कानों में स्वयं ही ज्ञान का उपदेश किया उपदेश के अंतर अनिर्वचनीय परम ज्योति स्वरूप वह श्रेष्ठ विमान आकाश मार्ग को प्रकाशित करता हुआ तत्काल ऊपर को चला गया और महादेव जी भी अपने परम धाम में चले गए स्कंद जी कहते हैं तब ज्ञान वापी तीर्थ का महत्व इस संसार में सबसे अधिक हो गया ज्ञान वापी भगवान शिव की प्रत्यक्ष मूर्ति एवं ज्ञान उत्पन्न करने वाली है संक्षेप से सदाचार और उसके महत्व का वर्णन अगस्त जी बोले भगवान अभिमुक्त नामक महाक्षेत्र परम मुक्ति का कारण है वह संपूर्ण क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ और मंगलों में भी परम मंगल रूप है जहाँ गंगा विश्वनाथ और काशी ये तीनों जागरूक हैं वहां मोक्ष रूपी संपत्ति मिलती है इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है स्कंद जी किस किस धर्म का आचरण करने वाले पुरुषों को काशी धाम की प्राप्ति होती है यह बताइए मैं भी ऐसा मानता हूँ कि सदाचार के बिना किसी के भी मनोत सिद्ध नहीं हो सकते आचार परम धर्म है आचार उत्तम तप है आचार से आयु बढ़ती है और आचार से समस्त पापों का क्षय हो जाता है इसलिए आप पहले आचार का ही वर्णन करें स्कंद बोले मुने मैं सत्पुरुषों के लिए हितकारक सदाचार का वर्णन करता हूँ सुनो इस लोक में सब प्रकार के प्राणियों में सबसे बढ़कर मनुष्य है मनुष्य में श्रेष्ठ ब्राह्मण है और ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ विद्वान है विद्वानों में भी वे सबसे श्रेष्ठ हैं जिनकी बुद्धि परम पवित्र एवं वंश में ही क्यों ना हुई हो उनसे भी श्रेष्ठ वे लोग हैं जो पवित्र बुद्धि द्वारा किए हुए निश्चय के अनुसार कर्म करते हैं उनसे भी श्रेष्ठ हैं वे जो सदा ब्रह्मचित्त में तत्पर रहते हैं ब्रह्मा जी ने ब्राह्मणों को संपुष्ट जीवों का संपूर्ण जीवों का स्वामी बनाया है इसलिए इस जगत में जो कुछ भी स्थित है उस सब वस्तु को प्राप्त करने का योग्य अधिकारी ब्राह्मण ही है उनमें जो सदाचारी है वह सब कर्मों के योग है आचार भ्रष्ट नहीं इसलिए ब्राह्मण को सदा आचारवान होना चाहिए मुने राग द्वेष से रहित विद्वान ब्राह्मण जिस आचार का पालन करते हैं उसी को ज्ञानी पुरुष धर्म मूलक सदाचार मानते हैं जो उत्तम लक्षणों से हीन होने पर भी उत्तम आचार के पालन में तत्पर हैं श्रद्धालु और दूसरों के दोष न देखने वाला है वह मनुष्य से वर्षों तक जीवित रहता है अपने अपने वर्णासमुचित कर्मों के विषय में श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा जो धर्म मूलक सदाचार बतलाया गया है उसका आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए दुराचारी पुरुष इस संसार में निंदनीय होता है उसे नाना प्रकार के रोग सताते हैं और वह सदा अत्यंत दुख का भागी एवं अल्पायु होता है